रहे हमारा भेद बना रहे और हमें भगवान के प्रति उनकी लीलाओं को देखते रहे उनका प्रेम प्राप्त होता रहे हमारे हृदय में उनके प्रेम प्राप्त होता रहे ये मुक्त से भी बड़ा सुख है ऐसे समझ करके मुक्ति नहीं चाहते भक्तों ने जब भक्ति की और मुक्ति की तुलना की है तो ये कहा कि मुक्ति का जो आनंद है वो तो फिर मुक्ति को परम परमात्मा को प्राप्त हो गया परमात्मा आनंद सिंधु है अनंत आनंद की उसे प्राप्त हो गई तो अनंत आनंद की उसे प्राप्त हो वो तो एक आनंद है ही है लेकिन कहते हैं कि अगर भगवान से अलग होकर के व्यक्ति को संसार छूट जाए उसका और उसको संसारिक क्लेश उसे न हो माया उसे न सफावे लेकिन भगवान से अलग बना रहे और भगवान के प्रति प्रेम बना रहे तो उस प्रेम में उस भक्ति में तो मुक्त से भी सैकड़ों गुना आनंद है इसलिए कभी कभी भक्ति की श्रेष्ठता ज्ञान से भी श्रेष्ठता कही जाती है कि भगवान से पृथक भाव भी बना हुआ है ज्ञान भी बना हुआ है और भगवान का प्रेम भी बना हुआ है उसका आनंद भी प्राप्त है और संसार का कोई बंधन है नहीं जन्म भरण का बंधन कर्म बंधन कोई है नहीं हाँ? ये सबसे तो छुटे ही गए तो कर्म बंधन न रहे और परमात्मा की भक्ति और आनंद भी प्राप्त हो तो इसमें कोई व्यक्ति की कमी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि ये भक्त लोग कोई नीचे प्रकार के हैं और ये बेचारे इनमें भगवान से अलग बने रहते हैं तो अलग रहने के कारण से ये कुछ निम्न कोटि के मुक्ति नहीं प्राप्त हुई तो नीचे दर्जे के हैं तो ऐसा नहीं जिनकी भक्ति में तो मुक्ति उसका एक पार्ट मैंने भक्ति मान ली बहुत बड़ी स्थिति प्राप्त व्यक्ति को है और जो ऐसी पराभक्ति जिसको प्राप्त होगा मुक्त तो है ही है मुक्ति के माने केवल यही नहीं जो परमात्मा से मिलकर के एकाकार हो जाए तभी मुक्ति है परमात्मा से अलग से रहकर के कर्म का बंधन अगर नहीं है व्यक्ति को तो तभी मुक्त है और फिर अलग है तो कैसे है केवल भावना से भगवान की खुशी इस प्रकार के उसके हृदय में है जिसके कारण वो अपने आप को भगवान से पृथक करके देखता है भगवान में पूज्य भाव रखता है प्रेम भाव रखता है सखा भाव रखे चाहे पुत्र भाव रखे चाहे दास भाव रखे कोई भाव रख करके भगवान से इस प्रकार से भेद बुद्धि बनाए रखता है बस इस प्रकार की जो भक्ति है ये भक्ति बहुत उच्च कोटि की भक्ति है ये शास्त्रकार तुलसीदास जी भी इसी तरफ इस भक्ति की ओर ध्यान दिलाते हैं तो कहते ताते माँ मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो सगुण उपासक मोक्ष न ले अभी देखो जो सगुण उपासना करने वाले हैं तो उपासना बिना भेद के नहीं होती उपासना जब करते तो उपासना में एक उपास्य होगा एक उपासक होगा तो लोग बात कहते हैं कि मिलाकर जब तक द्वैत नहीं होगा तो उपासना कैसे होगी बात ठीक ही है जो जीव अपने आप को जीव समझे कि हम जीव हैं शरीरधारी हैं मन बुद्धि हम हैं इसी प्रकार जो परमात्मा आनंद है समस्त जगत का स्वामी है वो हमारा पूज्य है इस प्रकार से भाव रखेगा तब उपासना करेगा भगवान की तो जो उपासना करने वाले हैं भेद बुद्धि रखते हैं तो सगुणोपासक ये कहते मुख क्षण ले ही और वो मुक्ति लेते नहीं है मुक्ति तो उनको प्राप्त होती है लेकिन वो मुक्ति ऐसी मुक्ति कि परमात्मा मिलकर के एक हो जाए ऐसा स्वीकार ही नहीं करते वो अलग ही रहना पसंद करते हैं तो उनको भक्ति जो है द्वैत भाव उनको भगवान से अलग उनको बना रहता है <clears throat> तो कहते हैं तेन कहूँ राम भगत निधि दे ऐसे उपासकों को फिर भगवान अपनी भक्ति देते हैं मैंने पराभक्ति उनको प्राप्त होते हैं तो पराभक्ति में क्या हो गया जैसा कि अभी बताया भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई भगवान का परम प्रेम परम आनंद उस आनंद से आनंदित तो रहते ही रहते हैं कर्म के बंधन भी उनके छूट जाते हैं उनको कहीं कोई क्लेश किसी प्रकार का नहीं और भगवान की लीलाओं का आनंद है भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन का आनंद है इस प्रकार का सब उनको आनंद भक्ति की अवस्था में प्राप्त होता रहता है और उनको ज्ञान भी रहता है ये कहते हैं कि उनको ज्ञान न हो ऐसा नहीं है उनको ज्ञान भी रहता है कि परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है वही सब स्वरूप है और हम उस परमात्मा से कुछ भिन्न नहीं है जो परमात्मा स्वयं है लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम और ज्ञान ये दोनों साथ साथ उसके हृदय में बने रहते हैं और मुक्ति भी बनी रहती है भक्ति भी बनी रहती है ये सब भी उनके साथ में रहता है इसलिए कहते हैं तेनिकम राम भगत निधि दे इनको भगवान अपनी भक्ति देते हैं तो ऐसा भी इसमें प्रसंग में देख सकते हैं कि भगवान ने यद्यपि भक्त लोग तो ऐसे अर्थ लगाते हैं इस प्रसंग का कि भगवान ने यद्यपि महाराज दशरथ को चितई पितई जी ने उतर ज्ञाना लेकिन महाराज दशरथ ने कहा मान लो अपने मन में कहा हो या वैसे कहा हो कि आपका ज्ञान तो आप उनको दे रहे हैं हम जान रहे हैं कि आप, आप ही मात्र सदवस्तु हो सर्वत्र विद्यमान हो लेकिन इसके माने इस ज्ञान के बल पर हम ये नहीं चाहते कि हम आप में मिलकर के एकाकार हो जाए एक स्थिति प्राप्त हो जाए वो हम नहीं चाहते हम तो आपकी पराभक्ति चाहते हैं सदा आपका आनंद प्राप्त होता रहे प्रेम प्राप्त होता रहे हम तो यही चाहते हैं तो भगवान ने उनको कहा कि तीन कम राम भगत निज ही तो फिर भगवान ने उनको अपनी पराभक्ति मान लो दे दी वो भक्ति दे दी उसमें सदा मुक्त रहते हैं भगवान का प्रेम भी बना रहता है वो स्थिति भगवान ने दे दी ऐसा भक्त लोग अर्थ लगाएंगे ज्ञान की दृष्टि से और भक्ति दोनों के समन्वय के हिसाब से देखें तो एक नियम ये है कि यदि कोई भगवान का बड़ा भक्त है तो भगवान बिना मांगे ज्ञान देते ज्ञान तो उसे भक्त को प्राप्त ही होगा क्योंकि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारा बच्चा ज्ञानी बना रहे भक्त बहुत हो गया भगवान का और भगवान उस भक्त को अपना बहुत कुछ देना चाहते हैं तो सब कुछ दिया लेकिन ज्ञान नहीं दिया ऐसे थोड़े होगा भगवान को ज्ञान तो अपने पास रखेंगे वो भी उसको भक्त को दे देंगे गीता में भी अठारहवें अध्याय में आता है भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी होते हैं भक्त तो उनको हम ज्ञान प्रदान करते हैं वैसे यहाँ पर भी देखते हैं जगह जगह इस प्रकार के प्रसंग आते हैं जहाँ भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं महाराज तो सबको ही ज्ञान दे दिया भक्ति के प्राप्त के कारण से लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर जो है वो <clears throat> ये नहीं कि व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है भगवान जिसको भी ज्ञान देते हैं ज्ञान रहता ही है और भक्ति रहता है अब जैसे अब आते हैं उसमें <clears throat> गीता में चार प्रकार के भक्त हो गए आप अर्थार्थी और जिज्ञासु ज्ञानी भक्त तो ज्ञानी भक्ति के माने ज्ञान भी रह सकता है भक्ति भी रह सकती है ये दोनों बातें हो सकती हैं तो भगवान उसको ज्ञान तो दे ही देते हैं भक्त बना ही बनाया था और भक्ति उसे प्राप्त होता ज्ञानी भक्त हो तो ज्ञानी भक्त सब भक्तों में श्रेष्ठ है भगवान कहते हैं वो तो हमारा आत्मिक निर्मतम वो तो अपना ही स्वरूप है इस प्रकार से भगवान कहते हैं तो सबसे बड़ी स्थिति उसको प्राप्त हो गई ज्ञान भी प्राप्त हो गया भक्ति भी प्राप्त हो गई ज्ञानियों का जो फल है वो भी उसे प्राप्त है और भक्ति का फल है ही भगवान के और उसके अतिरिक्त भी उसे फल प्राप्त है भगवान का प्रेम और आनंद जो उसे प्राप्त होना चाहिए वेद के कारण लिया तो हम महाराज दशरथ ने क्या किया अभी देखो जब पहले आए थे तो महाराज दशरथ ने भगवान राम को प्रणाम नहीं किया लक्ष्मण जी ने उनको प्रणाम किया लेकिन महाराज दशरथ अब वहां से चलने लगे जब चलने लगे तब उनको क्या हुआ भगवान राम ने लक्ष्मण ने उनको प्रणाम नहीं किया महाराज दशरथ ने उनको प्रणाम किया बार बार कर तो प्रभु ही प्रणाम ये प्रभु कौन है भगवान राम महाराज दशरथ ने बार बार भगवान राम को प्रणाम किया और दशरथ हर्ष गए स्वर्धामा और महाराज दशरथ स्वर्धाम से चले गए स्वर्ग धाम में कब तक रहेंगे जब तक कि भगवान यहाँ अयोध्या में राज्य करेंगे तब तक ये स्वर्ग धाम में रहेंगे जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम में वैष्णव धाम में जाएंगे तब महाराज दशरथ भी वैकुंठ धाम में सदा उनके साथ वास करेंगे ये भक्तों का विभाजन उनका जो वर्णन का तरीका इस प्रकार से इसलिए महाराज दशरथ तब तक स्वर्ग में वेट करेंगे कि जब तक भगवान वैकुंठ धाम में पहुंचेंगे तो वहां करेंगे अब भेद भक्ति इनकी चलती है तो स्वर्ग में जाकर के इसने इससे ये दिखा दिया दशरथ हर्ष गए स्वर्धामा स्वर्धामा ने स्वर्गधाम में गए इसे पता लगा कि महाराज दशरथ और भगवान राम मिल करके दोनों एक नहीं हुए हम्म? इनमें भेद बना रहा लेकिन ज्ञान भगवान ने दिया वो भी व्यर्थ नहीं जाए कोई ऐसे थोड़ा होता भगवान ने ज्ञान दिया और महाराज दशरथ उसका निरादर कर दें गले माता ज्ञान नहीं लेते बेकार है अपने पास रखो ऐसे थोड़े बोलते और दशरथ जी ने वो आदर पूर्वक जो ज्ञान भगवान ने दिया उस ज्ञान को भी धारण किया और भक्ति भी उनके पास थी भगवान ने भक्ति भी दी उसके कारण दोनों बातें रहती हैं अब जैसे एक उदाहरण देखें कि संसार में जो शंकराचार्य हो गए वेदव्यास जी हो गए तब आप इनको क्या मानते हाँ? अगर दुनिया में ऐसे लोगों को भी आप ज्ञानी नहीं मानेंगे तो किसे दुनिया में ज्ञानी मानेंगे तो ज्ञानी हुए तो इसके माने इनको ज्ञान होने पर भी शरीर भी गिरा तब तो शंकराचार्य ने इतने ग्रंथ ग्रंथ लिखे उतना सब देश भर में यात्रा की और अगर बिना शरीर के होते और वो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान से मिलकर के एकाकार हो गए होते तो लिखने लिखने का काम कौन करता देश भर की यात्रा कौन करता व्यास जी की तरह इतने ग्रंथ कौन लिखता तो इसके माने भगवान से मिलकर के एक भी नहीं हुए और भगवान का ज्ञान भी इनको प्राप्त होता ये कहो परोक्ष ज्ञान था सो भी नहीं अपरोक्ष ज्ञान भी इनको प्राप्त है और लेकिन फिर शरीर भी धारण किए हुए दोनों बातें होती हैं तो इस प्रकार देखते हैं कि ज्ञान में प्राप्त होने पर भी एक स्थिति तो ऐसी होती है कि जिसे विदेय मुक्ति कहते हैं सारे शरीर छूट गए परमात्मा से मिलकर के एक हो गए लेकिन जीवन मुक्ति भी तो होती है देहधारी होकर के भी मुक्त होती है चाहे स्थूल शरीर धारण करके कोई मुक्त रहे जैसे ज्ञानी लोग हुए और चाहे दिव्य शरीर धारण कर करके कोई मुक्त रहे जैसे महाराज दशरथ को दिव्य शरीर प्राप्त है लेकिन ये भी मुक्त है भक्ति भी प्राप्त है इसलिए जो है ये है ज्यादा इस प्रकार का अपने बुद्धि में कि अगर ऐसा है तो ऐसा संभव नहीं अगर ऐसा है तो ऐसा संभव नहीं ये विचार नहीं करना चाहिए ये नहीं कि ज्ञान आ गई तो अब भक्ति खत्म हो गई मिट गई भक्ति अगर भक्ति आ गई तो कहते ज्ञानी नहीं है तो अज्ञानी रहेगा ऐसे बातें नहीं सोचनी चाहिए ये शास्त्रों का तात्पर्य है कि दोनों में समन्वय करें तुलसीदास जी की समन्वय बुद्धि है ज्ञान और भक्ति में भी देखो समन्वय कर दिया यहाँ पर तो महाराज दशरथ में भक्ति तो है ही है भक्ति के कारण तो जा रहे हैं स्वर्गदान भगवान से ऐसा नहीं हुआ मिलकर के एक हो गए हो लेकिन उसके साथ साथ लेकिन ज्ञान भी रहा उनको और फिर भगवान को उन्होंने प्रणाम भी बार बार किया देखो तो उन्होंने ईश्वर तो ब्रह्म भाव परमात्मा भाव भगवान राम पुत्र के स्थान में परमात्म भाव भी देखा तो, बार बार कर प्रभु प्रणामा दशरथी तो हर्ष गए सुरधामा और कहते हैं अनुज जान की सहित प्रभु कुशल को सलाधीश अभी तो दशम जी तो चले गए अब आगे को देखो अब रंगमंच के ऊपर दूसरी लीला होती है अब वहां जहाँ मार्ग से चले गए तो भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी अकेले वहां विराजमान है नहीं रह गए तब उनके सामने कौन आता है तो इंद्रदेव वहां खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि भगवान राम इस समय बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिखाई देता है तो अनुज जान की सहित प्रभु इंद्रदेव ने देखा भगवान राम भी हैं सीता जी भी हैं लक्ष्मण जी भी हैं और ये सब बड़े ही सुंदर है कुछ कौशला भी है ये सब कौशलाधीश भगवान बड़े सुंदर स्वरूप में विराजमान है और कुशल एक बात जो है इंद्रदेव ने देखा ध्यान का विशेष रूप से गया कुशलता की कुशलता के मैंने ये कि जब युद्ध हो रहा था राम रावण का तो कहीं नागफांस लग गई इनको भगवान राम को लक्ष्मण जी को और कहीं आकर के वो महाराज मेघनाथ ने शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी कहीं बेहोश हो गए तब ये सब जो है ये इंद्रदेव देखते रहे और बीच बीच में व्याकुलता होती रही उनको लगा कि देखो भगवान जो है इनसे युद्ध कर रहे हैं हमारे कारण देवताओं के कारण युद्ध कर रहे हैं और इनको देखो ये ये कष्ट हो रहे हैं नागपास लग रहे हैं कहीं शक्ति लग रही है कहीं ये हो रहा है कहीं वो हो रहा है लेकिन अब देखते हैं कि रावण भी मारा गया निशाचर भी मारे गए और भगवान श्री राम जी सकुशल है लक्ष्मण जी सकुशल है पता नहीं कि इनको कहीं इनको कहीं हाथ पर कट गए होते कहीं कहीं बुखाव तो हो गया होता तो अंग भंग हो गए होते सो तो कहीं कुछ नहीं हुए हैं सब बिल्कुल कुशल सीता जी भी जो वहां बैठी हुई थी वो भी भगवान के पास आ गई वो भी सकुशल है तो सबको तो सकुशल देख करके इंद्रदेव को एक बड़ा सांत्वना उनको मिली कि चलो इन्होंने निशाचरों को तो मारा लेकिन उसके कारण कोई इनको कोई हानि इनकी नहीं हुई इस बात की प्रसन्नता थी नहीं तो इनको बड़ा ज्ञानी होती कि देखो भगवान ने हमारे कारण से इनसे निशाचरों का बन किया और उसमें अपने हाथ पर कटा लिया घायल हो गए इस प्रकार का उनको दुख होता तो इंद्रदेव इस हिम्मत से गए कि भगवान सकुशल हैं अब चलो इनके सामने नहीं चाहते हिम्मत में पड़ती हूँ शोभा देखी हर्ष मन भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके बड़े प्रसन्न हुए वो और अस्तुत कर सूरी अब इंद्रदेव स्तुति करते हैं तो स्तुति को देख के क्या कहते हैं <clears throat> जय राम शोभा नायक प्रणत विश्राम गद्रोण बरसर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप जय दूषणारी करारी मर्दन निशाचर धारे ये दुष्ट मारुनाथ भय देव सकल सनाथ के बिहाल लंकेश अति बल गर्व ये बस सुर मुन सिद्ध नर खगनाथ हरिपंथ सबके लाग अद्रोहरति दुष्ट कायो सुफल पापेष्ट अर्शुनम दीन दयाल राजीव नयन विशाल निरायति अभिमान हरण शरण सुखदायक सुखधाम राम नमा काम अनेक छवि रघुनायक सुरबंदरंजन कंद भंजन मनुज तनय तुलित बलम ब्रह्मा करुणा जितने बानर भालू हैं ये सब देवताओं के अंश हैं उन्होंने भी अवतार दिया था और इंद्र ने भी अवतार दिया था उनके अंश रूप में बाल था लेकिन बाल गए भगवान की लीला में कुछ सहयोग नहीं कर सका हाँ? भगवान ने उसे पहली मार दिया खत्म हो गया अब वही इंद्र आते हैं भगवान के सामने और कहते हैं भगवान कुछ हमारे लिए भी कुछ तो सेवा कार्य होना चाहिए हाँ? तो अंत में दोहे में बात आती है तो अगर भगवान ने उनको भी कुछ सेवा कार्य दिया लेकिन इंद्र को बड़ा अभिमान था ये रियलाइज हो गया जब भगवान ने बाली को मारा तो मरते समय भी बाली को समझ में आ गया कि हमको क्यों मारा और वो बात जो है बाली को स्मरण इंद्र होकर के जब आता है वो तो उसे स्मरण रहता है कि हमने बालिका का शरीर जरूर धारण किया लेकिन बड़ा अभिमान था उस अभिमान की बात भी इसकी प्रार्थना में दूसरी बात ये भी है कि इंद्र और समस्त देवता ये रावण कुंभकर्ण और ये जितने प्रदूषण इत्यादि में साकर थे इनसे बहुत पीड़ित हुए थे तो जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित होता हालांकि सब निशाकर मारे गए हैं लेकिन उनका पीड़ा और उनका भय अधिक इनके देवताओं के मन से और इंद्र के मन से हटा नहीं अभी शायद अभी ऐसा लगता है इंद्र जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि खदूषण तो अभी अभी खड़ा था सामने अभी अभी भगवान राम ने उसको मारा वो खरदूषण कोई अभी बीती हुई बात <clears throat> नहीं लगता हाँ? उनको अभी <clears throat> खरदूषण की घटनाएं अभी उनके हृदय में या इनके कहोगे खरदूषण के घाव उनके हृदय में इंद्र के अभी हरे हैं वो अभी सूखे नहीं बिल्कुल ब्राह्मण ने इन्होंने पात्रों ने इंद्र को जितना सताया वो भी घाव अभी इंद्र के मन में बैठे हुए इसलिए इंद्र जो बोलता है ये बार बार यही कहता है कि आपने बड़ी कृपा की जो इन निशाचरों को आपने मार दिया उसकी कृतज्ञता व्यक्ति करता है कहते जय राम शोभा धाम वैसे तो उन्होंने देखा भगवान बड़े ही सुंदर स्वरूप विराजमान है भगवान राम सीता जी लक्ष्मण जी तो उनकी जय जयकार बोलता है बार बार आपकी जय हो जय हो अब इनकी इंद्र की प्रार्थना में एक बार भगवान की जयकार बहुत है उसने देखा कि भगवान राम जीत गए ये सब राक्षस मारे गए अब वो पहले तो धीरे धीरे करके जय जयकार बोलता रहा आकाश में जब तक युद्ध चल रहा था अब भगवान के सामने आकर के खूब खुले मन से जय जयकार बोल रहा है आपकी जय हो जय हो दायक प्रणत विश्राम जो आपके शरण में आते हैं आप उनको विश्राम देने वाले हैं जैसे देवता भगवान की शरण में आए तो अपने अपने अनुभव से इंद्र जानता है कि भगवान हम आपके शरण में आए तो आपने हमको विश्राम दिया निशासनों को मारा और ध्वज पूर्ण बरसर आप धनुष बाण करकट ये सब धारण किए हुए हैं और भुज दंड प्रबल प्रताप और वैसे आपकी भुजाओं में बड़ी शक्ति है आप बड़े प्रतापी हैं तेजस्वी हैं शक्तिशाली हैं धनुष बाण करकट भी धारण किए हुए हैं तो इसी बल पर आपने इसमें बलशाली होने के कारण से शासनों का वध किया तो जय दूषणारी आप इतने शक्तिशाली हैं इसलिए दूषणारी खराब है आप मैंने खर दूषण दोनों को आपने मारा है आपकी जय हो और कहते हैं मर्दन निशाचर भाग और भी जितने निशाचरों की धार्मिक सेना निशाचरों की जितने सेना थी वो भी सबका उसका मर्दन किया मन सबका विनाश आपने कर दिया ये दुष्ट मारे उन्नाथ अब कहते हैं इस दुष्ट को मैंने राक्षस को आपने रावण को मार दिया ये बड़ी कृपा की भय देव सकल समाज सब देव समाप्त हो गए मैंने जब तक रावण था इन देवताओं को परेशान किया तब तो सब मानो अनाथ थे अनाथ केवल कहीं इनको आश्रय नहीं था कहीं विश्राम नहीं था शांति नहीं थी ये अनाथ अवस्था अब जैसे ये मारे गए तब से अब तो हमको सबसे शांति मिल गई अब हम सब अनाथ हो गए जय हरण धरणी भार आपने पृथ्वी तो का भार उतार लिया पृथ्वी तो भी जब भगवान ने अवतार लेने को थे उससे पहले जब पृथ्वी भी के ऊपर बड़ा भार छात्रों को बढ़ गया तो पृथ्वी भी ब्रह्मा जी के काट गई तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की थी तो पृथ्वी का भार भी अधिका हो गया ये कार्य संपन्न हो गया तो जय हरण धरणी धार महिमा उदार अपार हे भगवान आपकी महिमा तो बड़ी अपार है आप बहुत उदार हो इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना की जय राम लाल कृपाल हे कृपा ने धाम आपने रावण का बल किया है आपकी जय हो के जात धान बिहाल सब निशासर जो है आपको उन्होंने निशासनों को आपने बेहाल कर दिया मार दिया विध्वंस कर दिया ये जात लंकेश अति बल गर्व ईरान को लंकेश को उसको तो बड़ा ही अपने बल का गर्व था कितना गर्व था ये तो रावण जानता है इंद्र जानते हैं कि रावण को कितना गर्व था इसलिए कहते हैं कि जाकर था इसको अपने बल का इसलिए बस सुर गंधर्व गंधर्वों से लेकर के देवताओं तक के साथ सबको अपने बस में उसने कर रखा मूल सिद्ध नर खगनाथ चाहे मुनि हो चाहे सिद्ध हो मनुष्य हो पक्षी हो नाग हो हर अंश सबके लाभ सबके बीच में बाधक सबका बना सबको उसने अपने बस में कर रखा था अभी केवल इतने ही रावण नाम का एक मनुष्य था उसने सबसे बचने का रखा था राजा का रखा था तो रावण के स्थान पर मोह शब्द का प्रयोग करते रहे और देखें कि मोह ने मोह से कौन कौन ग्रस्त है हाँ? कोई तो मनुष्य ही थोड़े सारे पृथ्वी भर के मनुष्य मोह में पड़े हुए अरे जितनी आप से देखते हो तो पक्षियों की शक्ति सब मोह में पड़े हुए हाँ? जबकि पतंग आदमी सब मोह में पड़े हुए और यहाँ तक कि मोह में पड़े हुए हैं गंधर्व इंद्र देवता ये सब मोह में पड़े हुए इनके मोह पड़ने का करने क्या है ये सबके सबको अपने अपने अगर इंद्र को अगर इंद्र पद प्राप्त है तो इंद्र पद में ही आ सकती है इंद्र पद नहीं छोड़ना चाहते इंद्र समझते कि हमने बड़े पुण्य कार्य किए हैं बहुत यज्ञ की है तब हम इंद्र पद प्राप्त हो पाया है ये कहीं हमारा चला न जाए जीवन में अनासक्त नहीं आए बैराग इनको किसी को नहीं आए ऐसा सब लोग में पड़े हुए प्रकार तो कहते हैं कि रावण ने सबको बचने का रखा है तीनों लोगों मैंने जहां तक सृष्टि है और जहां तक प्राणी जीव है वे सब लोग में पड़े हुए हैं और हर जगह अपने अपने शरीर में शक्ति आ सकती है और शरीर संबंध रखने वाला जो कुछ उन्हें मिल गया है उस समय आकर लिए बैठे हुए हैं इस मोह में सारी सृष्टि पड़ी हुई है ऐसा शक्तिशाली रहा है तो मोह की शक्ति को अनुमान से समझ लो अपने देख लो अपने आप से मोह में कितनी शक्ति है और किसको सूचने दिए कर रखा अब इस मोह के ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है बस भगवान ही उसके बाद में परमात्मा जो है वो इस मोह से भी ज्यादा शक्तिशाली अब कोई ये समझे कि मोह को छूट नहीं सकता तो हाँ नहीं छू सकता लेकिन परमात्मा छुड़ा सकता है ये शक्तिशाली है इसलिए परमात्मा में प्रेम करो उसकी शरण में जाओ ये मोह को छुड़ाओ और मोह जो ये बहुत दुख देने वाला रावण को रावण क्यों कहते हैं मोह कहते तो सीधे सीधे क्योंकि मोह ज्यादा दुख देने वाला है इसलिए ये सूचित करने के लिए रावण नाम रखा जो रुला रहे उसका नाम रावण अगर आपको कभी रोना पड़े तो समझ लेना क्यों कौन रुला रहा रावण बनाया और रावण कौन है मोह कभी कभी व्यक्ति रोता है तो, तो खूब रोता है जोर से रोता है खिला के तो रोता है और रोता है तो उसे मोह होगा जहां धन से दक्ष से व्यक्ति से किसी से मोह होगा कभी रोएगा और कभी कभी नहीं रोए हृदय में ही कुछ है और आंखों को रो न सके तब अपने हृदय में विचार करके देखिए ये सब क्या हो रहा है आपके भीतर तो समझ में ये मोह की लीला है वो लाभ बैठा हुआ जब तक एक मोह से नहीं छूटते तब तक ये दिखा रहेगी भीतर ही टूटती रहेगी तो टूटता रहेगा जो बाड़े उठते रहेंगे इसी प्रकार उससे छुटकारा पाने को उपाय है भगवान की शरण में जाओ की लाओ भगवान में प्रेम उनकी कृपा हो तब ये सब विकट तब अनाशक्ति आ गए वैराग्य आ गए तब छुटकारा इसलिए कहते हैं कि ये इस प्रकार के समय को देखो पर दो रहते रहते देश को ये दुख जो है दूसरे के ग्रोह में पर ग्रोह में हर किसी को दूसरे तक पहुँचाता रहता था पाए तो फल पाप इसको इस पाप में अपना फल पाए ऐसे देवता लोग पहले बोल कर गए थे तो इसलिए उनको बोल रहे हैं चलो देखो कि इसने अपने पापों का फल पाया मैंने इसका विनाश हुआ अब सुनो दीन दयाल राजीव नयन विशाल कहते हे कल्याण भगवान है राजीव नयन उदार कृपालु प्रेम स्वरूप भगवान आपसे प्रार्थना ये कि नहीं रहा के अभिमान देखो इंद्र को अब ये रियलाइज कर दिया समझ में आ गया कि हमें बड़ा अभिमान रहा और नहीं कोई उम्र समान कि मेरे समान शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है मैं ऐसा समझता हूं और मेरे समान कि मैंने वैसे तो कुछ किसी को पृथ्वी पर ही कोई पद प्राप्त हो जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और कुछ स्वर्ग में पहुंच करके देवताओं को भी राजा हो जाए तो फिर उसको क्या कहना है तो समझे कि इससे बड़ा पद क्या हो सकता है उसको सबके राजा हम बने बैठे हुए हैं तो कहते हैं कि उसको नहीं को मैं ही समान मेरे समान कोई नहीं वो असान समझ रहे थे अभिमान था उनको अहंकार था लेकिन कहते हैं कि अब देश प्रभु पद कहेंगे आए भगवान आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करके मान प्रद दुख पुंज तो ये मान जो है दुख दुख प्रद जी जो ये था इससे जो है मान जो हमारा गया अब अहंकार अभिमान हमारा शुरू हो गया समाप्त हो गया तो देखो भगवान की दया से उनके दर्शन से कृपा से ये अहंकार नष्ट होता इंद्र भी कहता हमारा अहंकार मेरा अभिमान नष्ट हो गया और यही बता दिया मान प्रद दुख प्रद और दुख पुंज प्रद मान मैंने दुख साधारण है अनेक दुख जो है वो सब देने वाला दुख जो देने वाला ये है तो ये है अभिमान या अहंकार दुख ही देने वाला कोई व्यक्ति अहंकार करे अभिमान करे तो ये न समझे कि हमको सब देने वाला है वो दुख ही देगा तो दुख देने वाला जो अभिमान है ये है अब नष्ट हुआ कहते हैं आपके दर्शन से आपकी प्रकाश है तो देखो भगवान की कृपा होती है भगवान के दर्शन हो उनका ज्ञान हो तो मोह भी दूर होता है और फिर अहंकार भी दूर होता है हम्म? ये दोनों होते अहंकार भी दूर हो गया अभिमान भी दूर हो गया तो इंद्र ने मनो इस बात को स्वीकार कर लिया मुझे बाल रूप में थे तो हमें बड़ा अभिमान था कि मेरे समान बलशाली कोई नहीं है और उसको बाली को बड़ी शक्ति भी थी प्राणों से ज्यादा शक्तिशाली था तो हम इस प्रकार से आता नहीं कहीं कहीं इस प्रकार की बाली में रावण को अपने बगल में दबा रखा हाँ? बहुत दिनों तक दबा रहा तब बाली समझता था रावण क्या है हमारे सामने हाँ? और बल्कि ये उसने कहा वहां पर बाली में जब भगवान राम ने उसे मार दिया तब बाली ने कहा क्या सुग्रीव उग्रीव को आप इसमें ताकती कितनी बेचारे के पास है आपने इसकी सहायता की हमसे कहते कि सीता अपहरण कर लो जा रावण तो अरे आपको सिर्फ प्रश्न उठाना पड़ता हम वैसी रावण को मारकर सीता मिला का आपके पास डर लेते और अगर हम समाचार भी भेज देते रावण के पास कि तो सीता जी बैठे करें तो फिर तुम्हारे लेकर साथ आ जाता निकाल घेर सुग्रीव को तो ये तो भगवान को कहना नहीं था भगवान को तो सबको डांगोगे सबका करना था इतना युद्ध करना था ये कहना था उनको सारे वंश का विनाश करना था ये सब करना था तो कहा कि ईश्वर को अहंकार जो बाल का अहंकार था वो तो भगवान ने नष्ट करने के लिए बाल को मार दिया तो कहते हैं कोई ब्रह्म निर्गुण ध्यान अरिंद्र कहते हैं तो कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता है मैंने दो गुण को निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म की बात कराती है तो अरिंद्र कहते हैं कि कोई तो भाषा ही दो प्रकार की होती है प्रार्थना भी होती प्रार्थना भी होती कहते हैं कोई ब्रह्म निर्गुण भाव और अव्यक्त जो है श्रुति भाव और श्रुतियां उसे अव्यक्त कहते हैं अव्यक्त कहते हैं मैंने वहां से दिखाई देने वाला नहीं मन बुद्धि से प्राप्त होने वाला है ऐसे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कुछ लोग करते हैं तो मुझ भाव पोषण तो भू लेकिन कहते हैं हमें तो निर्गुण के बजाय ही अच्छा लगता है हमें तो